C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर सा शेर याद रखें और कौन सा भूल जाएं उस मशहूर शायर का जिसके बिना गज़ल अधूरी है नज्म अधूरी है उर्दू शायरी अधूरी है ये हैं असदुल्ला खान बेग गालिब यानी मिर्ज़ा गालिब बात आज की शायरी की हो या पुरानी इस अजीम शायर के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती हजारों ख्वाहिशें इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 8 रजब बारह सौ बारह हिजरी अर्थात 27 दिसंबर सन सत्रह ईस्वी बुधवार को अकबराबाद जहां अब आगरा शहर है वहां मिर्जा अब्दुल्ला बेग खां के यहाँ मिर्जा गालिब का जन्म हुआ उनका पुकारने वाला नाम मिर्जा नौशा रखा गया उन्होंने अपना तखल्लुस पहले असद और बाद में गालिब रखा जब ये पांच साल के थे तब इनके वालिद का देहांत हो गया और नौ साल की उम्र में ये चचा की सरपरस्ती से भी महरूम हो गए इसलिए इनका बचपन मुश्किलों में बीता जिस समय गालिब ने होश संभाला वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब रहा था और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज अपने पैर पसार रहे थे शहनशाह बहादुर शाह जफर की हुकूमत किले तक सीमित रह गई थी दूसरी ओर उर्दू शायरी का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ बुलंदियों पर था बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना आदमी को भी मयसर नहीं इंसान गालिब ने पहले फारसी को अपनी जुबान बनाया बाद में उर्दू जबान में भी शेर कहने लगे ग्यारह साल की उम्र तक मिर्जा नौशा थे ननिहाल में और छोड़ आगरा दिल्ली आए बल्ली में दिल्ली का चांदनी चौक चल भाई और उसके करीब ही ये बल्ली मारान का घनी आबादी वाला मोहल्ला और ये उसकी गली कासिम जान अरे क्या कर रहे हो मियाँ अल्लाह नु रिया तू अपना काम कर बस एक मस्जिद के जेर साया मिर्ज़ा का मकान था जो गली में दाखिल होते हुए सबसे पहले उल्टे हाथ को पड़ता था सामने हवेली थी जहां ड्योढ़ी पर एक बकरी बंधी रहती थी उसी में मिर्जा किराए पर रहते थे नौ अगस्त सन 1810 ईस्वी को दिल्ली में गालिब का निकाह नवाब अहमद बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुआ आरंभ में गालिब का तखल्लुस था असद उन्हें शायरी में बनावट से चिड़ थी एक दिन एक साहब उनके पास आए और उन्होंने किसी मीर अमानी असद नामक शायर का एक शेर उनके सामने पढ़ा वाह गालिब साहब वाह क्या शायरी करते हैं आप <laughs> लेकिन जनाब कौन सा शेर पसंद आया आपको वो वाला असद इस जफा पर बुतों से वफा की हाँ। मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की वाह गालिब साहब क्या शेर लिखा है आपने लाहौल बिला जनाब आप आप इसे शेर कहते हैं आ, वो खैर देखिए अगर ये शेर मेरा है तो मुझ पर खुदा की लानत है अब मैं तो और अगर किसी और शायर का है तो उस पर खुदा की रहमत हो इतना ही हम कह सकते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं माफ कीजिए जनाब आप तो नाराज हो गए मुझे लगा कि ये आपका शेर बस, है बस, बस। ये मसायले तसफ़ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम वली समझते जो न बदखा की इसी गलत फहमी से बचने के लिए उन्होंने अपना तखलुस असद की जगह गालिब रख लिया गालिब को इस तखल्लुस का मूल विचार हज़रत अली की उपाधि असदुल्लाहिल गालिब से मिला था जिसका अर्थ है उत्कृष्ट या सर्व विजेता एक दिन की बात है कोई आदमी गालिब को ढूंढता हुआ गली कासिम जान में आया और गालिब से ही पूछने लगा दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ वाह वाह क्या बात माफ कीजिएगा जरा बताएंगे ये गालिब कौन है <laughs> पूछते हैं वो कि गालिब कौन है कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या मैं समझ गया ये अंदाज गालिब के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता बचपन से ही वो फारसी शायर बेदिल असीर और शौकत से काफी प्रभावित थे उनकी तर्ज पर शायरी किया करते थे जिस पर उर्दू गज़ल के शहनशाह मशहूर शायर मीर तकी मीर ने गालिब के लड़कपन के अशार सुनकर कहा था अगर इस लड़के को कोई काबिल उस्ताद मिल गया और उसने इसे सीधे रास्ते पर डाल दिया तो ये लाजवाब शायर बनेगा वरना मोहमल बकने लगेगा मीर तकी मीर का इंतकाल सितंबर 1810 ईस्वी को हुआ उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई और मिर्ज़ा लाजवाब शायर बने हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है तुम्हें कहो कि ये अंदाज गुफ्तगु क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम के तू गज़ल कैसे कही गई और कहाँ पढ़ी गई इसके पीछे एक किस्सा है एक बार की बात है मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के किसी गली नुक्कड़ में बैठे हुए थे वाह वाह वाह क्या बात है गालिब साहब वाह क्या अचानक उस वक्त के उस्ताद शायर हजरत जौक साहब की सवारी निकली हो, हो, हो, जौक साहब बादशाह जफर के दरबार में एक आला दरबारी शायर थे और बादशाह के उस्ताद थे और मिर्जा गालिब फक्कड़ मिजाज रिंद और आज़ाद ख्याल के शायर थे जब जौक साहब की सवारी निकली तो मिर्जा गालिब ने तंज किया बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता हम्म। खुदा ना खास्ता बादशाह तक ये बात ना पहुंच जाए क्या हाँ जाहिर है जौक साहब ने ये बात सुनी और उन्हें बहुत बुरा लगा जाकर उन्होंने बादशाह से इस बात की शिकायत कर दी फिर क्या था बादशाह को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने हवलदारों को भेजकर गालिब को बुला लिया मिर्जा गालिब साहब बादशाह सलामत आपने जौक साहब की तोहीन करते हुए कुछ कहा है माफी चाहता हूँ बादशाह सलामत दरअसल आप तक गलत बात पहुंची है जनाब ये तो मेरी गजल थी और मैं उसका बस एक शेर पढ़ रहा था अच्छा जी हुजूर जौक साहब झूठ तो नहीं बोलेंगे हम्म। आपने जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जो उन्हें बुरा लगा अगर वो आपकी गजल थी तो अभी इसी वक्त वो पूरी गजल हमें सुनाई जाए जो हुक्म बादशाह सलामत उसी वक्त गालिब ने ये गजल कही सबसे पहले तो बादशाह सलामत से मुखातिब हुए ये कहकर के हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगु क्या है वाह बहुत रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं काया जो आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है क्या बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है वाह वाह वाह क्या खूब बहादुर शाह जफर जो खुद भी महान शायर थे जानते थे गालिब ने यह गज़ल दरबार में खड़े खड़े रची थी लेकिन काबिलियत के सच्चे कदरदां बहादुर शाह जफर ने उसी वक्त मिर्जा गालिब को अपने दरबार का शायर बना लिया ये वो दौर था जब मुगल दरबार में महफिल सजती थी मुशायरे होते थे लाल किला दरबार मुगलिया मुशायरे की एक ऐसी ही शाम बादशाह सलामत बहादुर शाह जफर आतिशदान की गर्मी सेकते शायर इब्राहिम जौक बगल में हजरत मोमिन मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा और कई दीगर आला शायर और सुखनवर मौजूद साथ में मिर्ज़ा गालिब हजरत हम मशहूर हैं उन तमाम शोरा और सुखनवर हजरत के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं सबसे पहले हजरत मोमिन अपना कलाम सुनाएंगे शम्मे महफिल हजरत मोमिन खाम मोमिन के सामने लाई जाती है हाँ, देखते हैं मोमिन साहब क्या हाँ, तो मोमिन मुलाहजा फरमाइए कभी हम में तुम में भी चाह थी कभी हम में तुम में भी चाह क्या बात कही तुम्हें याद हो के ना याद हो तुम्हें याद हो कि ना याद हो बहुत कभी हम भी तुम भी थे आशना वाह कभी हम भी तुम भी थे आशना कभी हम भी तुम भी थे आशना तुम्हें याद हो ना याद शुक्रिया शुक्रिया जनाब शुक्रिया अब समय महफिल हजरत जौक के रूबरू हो अब हाँ, शमा महफिल हजरत इब्राहिम जौक के सामने लाई जाती है मुलायजा फरमाए जी जी जी जरा तवज्जो चाहता हूँ अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे अब तो अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे क्या खूब कहते हो साहब हमको आपका कलाम बेहद पसंद आया शुक्रिया जौक साहब के कलाम के बाद शमाए महफिल गालिब के सामने लाई जाएगी चलिए देखते हैं गालिब साहब क्या अरे भाई जौक साहब की शायरी का भला क्या मुकाबला शम्मा महफिल मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के सामने लाई जाती है गालिब भी कम नहीं है किसी हजरत इजाजत हो तो एक ताजा गजल के चंद अशार पेश करूं इरशाद इरशाद इरशाद ग्रामी नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का हम्म। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का वाह वाह सुबह अल्लाह वाह वाह वाह वाह बहुत खूब कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का लाजवाब बहुत खूब क्या कहा है गालिब की संजीदा गजल को समझना आसान ना था जफ़र मोमिन और जौक जैसे शायर ही इसकी गहराई समझ पाते थे ये शायर एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और एक दूसरे की काबिलियत समझने वाले और एक दूसरे के कदरदान भी थे मुशायरे के बाद जौक और मोमिन आपस में बातें कर रहे थे मोमिन साहब हम्म। अब मिर्जा गालिब क्या करते होंगे <laughs> बेचारे बैठे बैठे कोई ग्रह लगाते होंगे <laughs> या खोलते होंगे <laughs> ये कौन सा शौक है खुदाया अरे शेख साहब कमाल का हाफजा है उस आदमी का हम्म। जितने शेर कहते हैं उतनी गिरह लगाते जाते हैं रुमाल पर अच्छा हम्म। सुबह उठकर एक एक गिरह खोलते हैं और शेर कलम बंद कर लेते हैं ओ। हम्म। उन्हें एक एक शेर याद आता जाता है वही हाफजा तो वाकई कमाल का है हाँ। ये तो मानना पड़ेगा ये तो है और शेर भी क्या खूब कहते हैं मजा आ जाता है 25 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते गालिब ने 2000 शेरों का दीवान उर्दू में तैयार कर लिया था उनके लिखने और सोचने का ढंग इतना पेचीदा और मुश्किल था कि खुद ही दीवान से बहुत से अशार निकाल दिए अंग्रेजों की बदौलत पत्थर का छापाखाना हिंदुस्तान में आ गया हाजी मीर साहब की किताबों की दुकान भी काफी मशहूर थी अट्ठारह की क्रांति के दौरान दंगे हुए और हाजी मीर की दुकान भी उसमें जल गई बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया जहां कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई आमदनी का कोई जरिया नहीं शायर शायरी के अलावा कुछ जानता ना था हाजी मीर और मिर्ज़ा गालिब दोनों ही गमगीन दोनों ही एक दूसरे के गम से परेशान थे हाजी मीर साहब ने गालिब से पूछा कुछ रोज से मायूस नजर आते हो नौशा मिया क्या हुआ अब क्या कहें हौसला रखिए कोई ना कोई सूरत तो निकल आएगी <laughs> कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती आंखों से लगता है रात सोई नहीं मौत का एक दिन मुयन है नींद क्यों रात भर नहीं आती हम्म, सो तो किस्मत गई है मेरे गम में क्यों रोते हो तुम ही कहो कितने का माल जल गया कुछ न पूछो गालिब मिया किताबों का हिसाब किताब तो कर लूं लेकिन उस कलाम का हिसाब कहां से लाऊं जो किताबों तक भी न पहुंच सका और जल गया तुम्हारा कितना कलाम जला इसका कुछ अंदाजा है काले अल्फाज स्याह हो जाएं तो क्या कीजिए बस गलतकारियां जल गई जवानी की सलाम अर्ज करता हूं मिर्जा साहेब आदाब विदन मियाँ आदाब और नवाब जान कैसी हैं अब उनका ये अतना सा मुलाजिम क्या बताए बस एक तकाजा है कागज़ के रुके पर ताज़ा गज़ल लिखकर दे दीजिए तो उनकी बड़ी खुश नसीबी होगी <laughs> बदनसीब मेरी गज़लों से खुश नसीबी की उम्मीद मिया दर्द का दरिया है कागज़ पे ले जाना है <laughs> ये लो भाई जी नवाब जान से कहना तुम्हारा उनसे इतना ही नाता था और नवाब जान पैरों में घुंघरू बांध मिर्जा गालिब की दर्द भरी गजल गाती है दीवान गालिब हमें दस्तयाब है उसका प्रकाशन अक्टूबर 1841 ईस्वी में हुआ था दीवान गालिब में शेरों की संख्या है एक हजार पचानवे उनकी शायरी देशी और विदेशी कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला गालिब के ख़तों के संग्रह इसके अलावा नाम गालिब लतीफ़ गैबी काता बुरहान दुरफशय कावियानी दीवान उर्दू मकातीब गालिब आदि खास हैं गज़ल के बाद उनके खतूत हैं उनके ख़त एक नाम से शुरू होते थे और इस अंदाज में लिखे होते थे मानो वो खत पढ़ने वाले से बातें कर रहे हों सौकोस से बाजुबान कलम बातें किया करो और हिजर में विशाल के मजे लिया करो आखिरी वक्त में उनका रूहानियत से लगाव हो गया अपने सबसे वफादार शागिर्द और दोस्त मुंशी हर गोपाल तफ्ता को एक खत में लिखते हैं हिंदुओं में अगर कोई अवतार हुआ तो क्या और मुसलमानों में नबी बना तो क्या <laughs> दुनिया में नाम बर हुए तो क्या और गुमनाम जिए तो क्या आमदनी का जरिया नहीं बड़ा परिवार और बीमारी <laughs> शायर निढाल हो चला है दर्द मिन्नत कशे दवाना हुआ दर्द मिन्नत कशे दवाना हुआ मैं ना कशे दवाना अपनी ये अमर किताबें शायरी के दीवानों के लिए छोड़कर मिर्ज़ा गालिब 15 फरवरी अट्ठारह के रोज़ दोपहर ढले इस दुनिया से रुखसत हो गए उन्हें दिल्ली में बस्ती निज़ामुद्दीन के चौंसठ खम्बा के नज़दीक ख़ानदान लोहारू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया ये लाश बेकफन हसदे खस्ता जा की है हक मगफिरत करें अजब आजाद मर्द था सन उन्नीस ईस्वी को गालिब को गुजरे सौ साल हुए 22 फरवरी 1970 के रोज हिंदुस्तान की तब की वजीर आजम मोहतरमा इंदिरा गांधी ने ऐवान गालिब का उद्घाटन किया गालिब के नाम नई दिल्ली में रिसर्च सेंटर खोला गया गालिब पर शोध करने के लिए वाकई शायरी में जो मकाम गालिब ने हासिल किया उनके बाद उसके आसपास भी कोई फनकार नहीं पहुंच सका मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम विषय संयोजन शोध एवं आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाषा परामर्श डॉक्टर नुमान खां कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर विद्याभूषण किशोर सहजानी राजेश आहूजा ममता मलकानी और राम मैनी संगीतकार हरभजन सिंह गायन स्वर देवाशीष और अनुजा बिसारिया तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे ध्वनि अंकन दीपक पांडे अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंगडो निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन दुनिया बहुत अच्छे कहते Bandase.